किया और सूच का दार को और ओर से बाणों से ऐसा सरपंजर बना दिया आ, कि वायु भी प्रवेश न कर सके देखे कैसे चला जा तेरा तब तो ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र उत्पन्न किया और उस बच्चे के रोने की आवाज तो सुनाई पड़ी पर पहले शरीर तो दिखा करता था उसका अब शरीर के सहित ही अंतर्धान हो गया सदैव अंतर्धान प्राप्त हो पदाभिप्रा कृष्ण कृष्ण सन्निधि अर्जुन नीत का जाकर के ब्राह्मण ने अर्जुन को पकड़ लिया और उनके यहां तो तेरे से मैं कुछ नहीं कहता तू भगवान के पास चल बड़ी ढींग मारता था तू अरे उस समय मेरे बच्चे का मरा हुआ शरीर तो मिलता था और तो बालक का शरीर भी नहीं रहा अरे मेरी मूर्खता तो देखो मैं इस नपुंसक के कहने में आ गया जब मेरे बच्चे की रक्षा बलदाव भी नहीं कर सके कृष्ण नहीं कर सके तो कौन रक्षा कर सकता इस मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है इसको धनुष को धिक्कार है बस अब तो अर्जुन ने कही भाई थोड़ा और फैल गया अर्जुन अपनी विद्या का स्वविज्ञान आस्था है उनको जो विद्या थी उसका आश्रय लेकर के यमपुरी में पहुंचे तब यमराज से कहा कि यहां ब्राह्मण का बालक कभी आया है क्या मृत्यु लाया है उस बच्चे को पंद्रह दिन के यहां तो आया नहीं महाराज अग्निलोक में गए कुबेर के यहां गए वरुण के यहां गए रसातल में गए स्वर्ग में गए हाथ में धनुष लिए कहीं बालक का पता नहीं अलब्ध जो पुत्र जब नहीं मिला तो स्वयं चिता बना करके उसमें अग्नि लगा करके उसमें जलने को तैयार हुआ फिर क्या करें हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके तो अपने अपने को हम इसमें भस्म कर देंगे भगवान ने आकर रोक दिया जय ठहरो महाराज नहीं महाराज मेरी प्रतिज्ञा है मैं अब कैसे जीता रह सकता हूं अरे हम तुझको उन ब्राह्मणों के पुत्रों को हम दिखाएं जो तेरी निंदा कर रहे हैं वो तेरी प्रशंसा करेंगे तुम्हारी कीर्ति की स्थापना होगी भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के और पश्चिम दिशा को चले सात पर्वतों का उल्लंघन करके सात जीवों का उल्लंघन करके लोकालोक पर्वत को अतिक्रमण करके तो लोका आधे लोकालोक पर्वत को पर ये सूर्य पहुंचते हैं तो वहां तक सूर्य का प्रवेश रहता है भगवान उस लोकालोक पर्वत को भी अतिक्रमण कर गए और अंधकार ही अंधकार मत के अंधकार ही विदेश वहां कभी प्रकाश तो जाता ही नहीं न चंद्रमा का प्रकाश नक्षत्रों का प्रकाश न सूर्य का प्रकाश घोर अंधकार घोर अंधकार सही में सुग्रीव तो आदि जो घोड़े थे उनकी गति नष्ट हो गई अंधेरे में कहां चले घोड़े भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र को स्मरण किया आगे आगे सुदर्शन चक्र अंधकार को विदीर्ण करते हुए जा रहे विवेश अर्जुन प्रसतम तेजो दृष्टुम न से और सुदर्शन का तेज जो है अर्जुन उसको नहीं देख सके नेत्र बंद कर ली तथो जलम प्रविष्ट फिर वहां जल ही जल आ गया भगवान ने जल में प्रवेश किया और जल को विदीर्ण करके फिर वो महाकाल पुरम महाकालपुर को नगर को देखा महाभीमम सहस्रम श्वेतकांतम शेषम दर्शन वहां भगवान शेष का दर्शन किया और शेष शैया पर शेष के देह पर भगवान पीताम्बर धर्म पीताम्बरधारी भगवान का दर्शन किया किरीट कुंडलाद प्रभया शोभमान अष्टभुजम आठ भुजा वाले भगवान विष्णु का दर्शन किया ये चार भुजा वाले तो और महाठ भुजा वाले महाविष्णु अष्टभुजम श्रीवत्स कौस्तुम बनमाला विरूतम सुनंदान सुनंद नंदनाद का से विलग्नम परमेश्वरम दृष्टा भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने तो राय भगवान बोले हे अर्जुन अरे भाई देखो ये ब्राह्मण के बालक हमने अपने यहां उनको मंगा लिया है मया अनिता इसलिए बोलो तुमको हम देखना चाहते थे युवाम धर्म रक्षणाया कलया भूय अवतीर्ण तुम पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वहां अवतार ग्रहण किया है इसलिए पृथ्वी का भार अब दूर हो चुका अब तुम दोनों जल्दी हमारे पास आ जाओ शीघ्र मेरे समीपम आवच्छतम हमारे पास जल्दी चले आओ युवाम साक्षात नर नारायण तुम दोनों नर नारायण हो लोक संग्रह धर्म आचरतम यहां तो ये मालूम पड़ता है कि दोनों ही उनके चीला चाटी थे अरे हमने तुमको भेजा था लाओ काम तुम्हारा हो गया और जल्दी हमारे पास चले आओ और तमीश्वरन दत्ता द्विजपुत्रांग बहुत उन भगवान को प्रणाम करके ये दोनों ब्राह्मण को उन बच्चों को लेकर के और करीब भगवान लौट करके आए अर्जुन ने वो महाकाल पर को देखा और भगवान विष्णु के उस धाम को देखा तो विस्मित हो गए तो उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा से हमने ये लोग को देख लिया आकर के ब्राह्मण देवता को तो उसके जितने पुत्र थे मरे थे सब सुन लिए तब ब्राह्मण ने कहा चल तू जैसे हो तो तुम जैसे हो किया तो भगवान ने ये कृपा पर चल तू प्रतिज्ञा न करता तो हमारे बच्चे ने मिलते श्री चंद्र भगवान और ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत बढ़िया यदवंश प्रसूतानाम पुरुषाम वर्ष दस सहस्र यद संख्याम कर तुम न शक्य थे यदवंश में <coughs> इतनी यदवंशी बढ़ गए उनके पुत्र और पौत्र कहते हैं कि दस हजार वर्ष तक उनकी गिनती करते रहो तो उनकी गिनती नहीं हो सकती नाम यद कुमाराणाम वो कितने बालक थे यदुआ के अब इनकी गिनती तो तुमको क्या बताना है आचार्य तिसरा कोट्य तीन करोड़ पढ़ाने वाले थे इतना यादवान संख्या का कक्ष थी उन बच्चों को पढ़ाने वाले तीन करोड़ थे देवास संग्राम में जो दैत्य मर गए थे देवास युद्ध ये मृता देशता थे सु उत्पन्ना संता प्रजा बाधवाधुरे तेषा नाशा हरणा प्रेरिता देवा उनके नाश के लिए देवता जो है कुल में आकर के अवतीर्ण हो गए तेषाम एक एकाधिकम शतम कुलान्यासन तो उन सबके भगवान श्री कृष्ण उसमें सबसे प्रधान थे यादव लोग भगवान श्री कृष्ण को साक्षात परमात्मा समझते थे यदशु यथा कृष्ण तीर्थ रूपम तीर्थम जाता एवं भूत से कालचक्राय से भूभार वर्णादि नाश्चर्य ये भगवान के चरित्रों को पूर्व भूत से कृष्ण से भक्त में चंद कर्म क्षालनान कर्माण श्रेया यो मर्त्यो रात्रि दिनम श्री कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन चिंतया तद्धाम प्राप्ति राजा ने ग्रामात बनन इन भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को जो श्रवण करता है कीर्तन करता है स्मरण करता है तो परम गति को प्राप्त होता है बोलिए श्री कृष्ण और सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सा भार दूर कर दिया दुर्योधन को निमित्त बना करके और अठारह में सेना का विनाश कराया पृथ्वी का भार दूर किया पर भगवान ने ये सोचा जब तक ये यदकुल है तब तक पृथ्वी का भाग दूर कहाँ हुआ अब बताओ यहाँ तीन करोड़ तो बच्चों को पढ़ाने वाले आचार्य हैं और भगवान ने कहा ये सब के सब अहंकारी हैं तो भगवान के भय से वो सब मर्यादा में स्थित थे वो समझे बोले हमारे बिना तो सब दंड हो जाएंगे <coughs> तो जब तक ये यादव हैं तब तक पृथ्वी का भार दूर नहीं हुआ तो भगवान ने फिर उनके भी विध्वंस का निमित्त बनाया भगवान के यहां यज्ञ कराने के लिए ऋषि लोग आए कौन विश्वामित्र असित कर्ण दुर्वासा प्रभु अंगिरा कश्यप दानदेव अत्रि वशिष्ठ नारद और वो ऋषि लोग जो है यज्ञ करा करके वहां पास में ही तो ठहर गए पिंडारक नाम का जो तीर्थ है यज कुमार जो है बालकों यदुओं के बालक वहां खेलते कूदते वहां पहुंच गए ऋषियों के पास भगवान का पुत्र जो सांब था बड़ा सुंदर था तो यादवों के बालकों ने आपस में क्या खेल किया कि सांब को साड़ी वाड़ी पहना करके स्त्री का वेश बना दिया उसका और उसके पेट में कुछ कपड़ा पड़ा बांध करके ऐसा सर्वात सारी कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारम् सदा वसन्तम् हृदयारे संगात श मणिपिला सूरे गे बल नमो नम श्री धर्मेशाय वचसाय सात्वतानुतम् हलायुरादिसंयुतम् नमामि राधिकालिकम् वकालिदैत्यकालकम् सगोपिगोपकालकम् राशितारकम् वसुदेवसुतम् देवम् सकारणम् मूकं करोतु वाचालं मङ्गूलं प्रचेदिनं यत्कृपातमं वे मजदूर கஞ்சன விபதி வரூஷா மனவச்சகமவாணி சரண पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम बला सुर नमत न्याय से निशिदिन दूर रहे जीवनो सुख शरण सुचि प्रेम सुधाय शुभ ज्ञान खान मर्यादा का प्रभु ज्ञान रहे अभिमान रहे जिस जगत पिता ने जन्म दिया परिधान उसी पर वो शक्ति में दो कर्तव्य मार्ग पर पर सेवा पर जीवन सफल बना जावे शिव dần khi Kitu kai rahasi padapai kauna upadi pati sapani suka brahma भानु को अखंड प्रफुल्लित रहो दुख मेरी परमात्मा का अखंड स्मरण करो सभी को सुख करो किसी को दुख बदलो दो सभी पर रखो नूतन बाल तो स्वभाव रखो मर्यादानुसार चलो अखंड पुरुषार्थ करो गंगा प्रभाव आलसी मत मनो दुश्मन